आश्लायन महर्षि ने परमेष्टि के पास जा करके कहा अधि भगव ब्रह्म विद्या वरिष्ठाम सदा सद्भि सेव्यमान निगूढ़ाम या चिरा सर्व पापम व्यपोह्य परात परम पुरुषम याति विद्वान ब्रह्म विद्या वरिष्ठा ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या षष्ठी समासे ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य से देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद तीनों में से कोई भी परिच्छेद ब्रह्म में नहीं है क्योंकि सर्वदेश में व्यापक है नित्य होने से काल परिच्छेद नहीं ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है नेह नानास्ति किंचन श्रुति कहती है सर्वम ब्रह्म श्रुति कहती है ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं होने से वस्तु परिच्छेद भी नहीं है ऐसे ब्रह्म की विद्या है बुद्धि ज्ञान ब्रह्म की बुद्धि है ब्रह्म ज्ञान जैसे घट का ज्ञान है घट बुद्धि इसी प्रकार ब्रह्म की बुद्धि घट की बुद्धि तो अयम घट ऐसे बुद्धि होती है ब्रह्म का ज्ञान है अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ज्ञान है तो तो कारणम बुद्धि साक्षात्कार बुद्धि से अज्ञानी की निवृत्ति होती हो निवृत्ति होने से वो साक्षात्कार कहते तद्रूप है वो साक्षात्कार कारण है विद्या ताम वरिष्ठाम जो ब्रह्म विद्या है वरिष्ठ है अतिशयन श्रेष्ठा अत्यधिक श्रेष्ठ है सब श्रेष्ठ में से अतिशय श्रेष्ठ है ब्रह्म विद्या एक ही ब्रह्म विद्या जिससे अविद्या की निवृत्ति होने से संसार बंधन की निवृत्ति होती है सबसे श्रेष्ठ है सदा नित्यम सदा गत नित्यम सद भी सेव्यमाना देहादिशु आत्मबुद्धि शून्य ही सेव्यमाना सद भी का अर्थ किया सत है वही देहादि में आत्मबुद्धि रहित हो तो सत है जब तक देहादि में आत्मबुद्धि है देह में इंद्रिय में मन बुद्धि आदि में देह में आत्मबुद्धि अहम मनुष्य ये बुद्धि है अहम पुरुष अहम स्त्री यही आत्मबुद्धि है अहम पश्यामी आदि ये इंद्रिय में आत्मबुद्धि है अहम सोचामी अहम जीवामी अहम निश्चिणमी इसी प्रकार सोचामी मन का धर्म है अहम सोचामी कहेंगे तो मन में आत्मबुद्धि अहम जीवामी प्राण का बुद्धि निश्चुनमी इसी प्रकार जो आत्मबुद्धि है अज्ञान के कारण ही देहादि में आत्मबुद्धि है स्वरूप के अज्ञान होने से स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से देहादि में अहम बुद्धि होती है ऐसे अहम बुद्धि शून्य होते हैं सत देहादि में अहम बुद्धि रहित ऐसे तद्भि सेव्यमाना से सत देहाद में अहम बुद्धि रहित होने पर ऐसे सत्पुरुष उसको सेवन करते हैं निरंतर सेव्यमानाम का हृदय ध्रियमानाम हृदय में बुद्धि में धारण करते अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ही बुद्धि निश्चय करके रखते हैं निगूढ़ सर्वभूतेषु आत्मनि विद्यमान अभी अविद्य नितराम संभृता सर्वभूतेषु आत्मनि विद्य सर्वभूत में आत्मनि विद्यमान आत्मन पाठ आत्मन विद्यमान आया किंतु आत्मनि विद्यमान आया सर्वभूत के आत्मा में तद्रूप स्थित है ब्रह्म अविद्या नितराम समृताम अज्ञान से ढका गया है यया वो ब्रह्म विद्या कह करके अंत में ब्रह्म विद्या होने से अज्ञानी की निवृत्ति होती है अज्ञानी की निवृत्ति होने पर ब्रह्म रूप ही शेष रहता है तो ब्रह्म विद्या से ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है अज्ञानी की निवृत्ति होने से वो साक्षात्कार रूप ही ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है मोह की निवृत्ति होने से वह आत्मस्वरूप ही निवृत्ति मोह आत्मा निवृत्तिरात्मा मोह से ज्ञातत्व उपलक्षित मोह से निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा वह आत्मा ही है अलग कोई नहीं है अज्ञान भी ब्रह्म से कोई अतिरिक्त नहीं है अज्ञान भी पारमार्थिक नहीं ब्रह्म में अध्यस्त है अविद्या है ब्रह्म की शक्ति उसकी निवृत्ति ब्रह्म स्वरूप है इसलिए उसको अंत में ब्रह्म विद्या और अज्ञान निवृत्ति ये भी एक साथ है अगंधकार की निवृत्ति और प्रकाश की उत्पत्ति एक साथ है प्रकाश की उत्पत्ति होने के बाद अंधकार निवृत्ति कहेंगे तो एक क्षण में प्रकाश और अंधकार दोनों रह जाएंगे इसलिए प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार की निवृत्ति घट की उत्पत्ति और घट प्राग भाव की निवृत्ति घट प्राग की निवृत्ति ही घट रूप इसे तार्किक लोग भी कहते हैं एक पक्ष मानते हैं घट उत्पत्ति होने पर प्राग भाव की निवृत्ति किंतु प्राग भाव की निवृत्ति और घट की उत्पत्ति समकालीन है इसी प्रकार अविद्या की निवृत्ति और ब्रह्म ब्रह्मा ज्ञान एक काल होने से अविद्या निवृत्ति आत्मस्वरूप है तो ब्रह्म विद्या को कहीं कहीं आत्मस्वरूप भी कहते हैं हे तो ब्रह्म विद्या ब्रह्माकार वृत्ति अंतकरण परिणाम तो उसको आत्मस्वरूप मान करके ब्रह्म विद्या नितराम संभुता कहेगी अविद्या से ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म विद्या अचिराद दीर्घ न कालेन यया अचिरात सर्व पापम व्यापोह्य यया विद्या यया का तो ब्रह्म विद्या से अचिराद का तो चिर होता है दीर्घ अचिराद का तो अदीर्घण कालेन सर्वम पापम सर्वम पापम निखिल दुख कारणम अज्ञान संस्कार अचम व्यपह्य सर्व पापम व्यपह्य सर्व पाप पाप शब्द से क्या लेना निखिल दुख कारण अज्ञानम और संस्कार सब को नष्ट हो कर देता है ज्ञान होने पर व्यपह्य का विविधम परित्यज्य विनाश इत्यर्थ विनाश से त्यर्थ नष्ट करके ज्ञान से ही सब कुछ अज्ञान अज्ञान में अज्ञान का कार्य सब कुछ नष्ट हो जाता है परात परम पुरुषम विद्वान याति परात है सर्व जगत कारणात परम उत्कृष्टम अज्ञान आश्रय विषयत्वाभाम पुरुषम पर है सर्व सर्व जगत कारणात परात पर है सर्व जगत कारण कार्य के अपेक्षा कारण पर होता है परात का सर्व जगत कारणात सारे जगत के कारण से परम जगत कारण से पर जगत कारण कार्य का कारण अज्ञान है और अज्ञान माया विशिष्ट चेतना ईश्वर है उससे परम परात परम पुरुषम उत्कृष्टम पर है परात जगत कारण जन्माद्य से यत ब्रह्म का लक्षण किया वो तो है तटस्थ लक्षण जगत कारण तो ईश्वर है माया विशिष्ट चेतना शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से मुख्य है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में आया शुद्ध ब्रह्म का लक्षण करते समय जन्मादि से तो कहा ये तटस्थ लक्षण तो जन्मादि कारण से उपलक्षित शुद्ध ब्रह्म माया विशिष्ट चेतन से पर है जो अज्ञान का आश्रय उत्कृष्टम अज्ञान आश्रय विश्वा विषयत्वाभ्याम पुरुषम अज्ञान का आश्रय और अज्ञान का विषय विषयत्व से उत्कृष्ट हुआ पुरुषम परिपूर्णम पुरुष शब्द का थे पूर्णात् पुरुष परिपूर्ण है व्यापक परिपूर्णम याति याति का तो उपेति प्राप्त करता है प्राप्त विद्वान अहमेव स्वस्मृति साक्षात्कार ही विद्वान ही अहम एव सह सह परमात्मा अहम एव ऐसे वान ही विद्वान है साक्षात्कार शब्द का अर्थ है संशय विपर्य रहित ज्ञान जब तक तो संशय विपर्य निवृत्त नहीं हो तो ऐसे ज्ञान तो होता है उसको साक्षात्कार शब्द से नहीं कहते तस्में सहोवाच पितामह श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा दबे ही तस्में पितामह उवाच तस्में असुलायन के लिए पितामह ने कहा श्रद्धा भक्ति ध्यान युगात अवे ही ये अवे ही जानो जानी ही श्रद्धा भक्ति ध्यान युग से इसको जानो उपाय बताया एवं पृष्ठ तस्मय स्वशिष्याय शिष्य है अश्वलायन परमिष्टि के पास गए थे ब्रह्म विद्यार्थी ने जो ब्रह्म विद्या चाहने वाले विद्यार्थी ब्रह्म विद्या को चाहने वाले ब्रह्म विद्यार्थी विद्यार्थी ने सगुरु हो गुरु ने उपदेश किया ब्रह्मा जी ने सर्वज्ञ ह ये सर्वज्ञ है ह का अर्थ किल प्रसिद्ध है उवाच उक्तवान उवाच का अर्थ उक्तवान पितामहश्च पितामह है पितामह का भी पिता है उनसे पितामह जगत पितृणाम दक्षादीना पिता पितामह कमलासन जगत के पिता दक्ष प्रजापति आदि है प्रजाओं के पति प्रजापति है उनके भी पिता है इसलिए पितामह हुआ कमलासन कमलम आसनम यस्य पद्मों में बैठे हैं ब्रह्मा जी चकारो पिकाराथ स पितामहोपि उवाच न तो उपेक्षा कृतवान इत्यर्थ पितामहश्च च का अर्थ अपि अपिकारार्थ अपिकार से अर्थ अपिकारार्थ अपिकार अर्थ अर्थो यस्य में अर्थ का लोप हो जाएगा अपिकारार्थ अर्थो यस्य शाकपार्थवादि नाम सिद्ध है उत्तर पद लोप से उपसंख्यान अपिकारार्थ अपिकार से अर्थ अपिकारार्थ अर्थो यस्य कस्य चकार से सचकार अपिकारार्थ एक अर्थ का पूर्व खंड का अर्थ का लोप हो जाएगा अपिकार का जो अर्थ उसी अर्थ में यहाँ चकार प्रयोग किया अर्थात पितामह से कहा था पितामहोपी पितामहोपी ये आगे कर दिया स पितामहोपी उवाच पिताओं का पिता पितामह ब्रह्मा है ऐसा होने पर भी उनके पास जब पहुंच करके पूछा तो उवाच कहा न तो उपेक्षा कृतवान व्यर्थ कोई कुछ कहता है तो उसकी उपेक्षा कर देते हैं बुद्धिमान लोग किंतु ये ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए जो जाता है ज्ञानी उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं तो इसी प्रकार ब्रह्मा पितामह होने पर भी उनका उत्तर दिया न तो उपेक्षा कृतवान उपेक्षा नहीं की उन्होंने यही अप्यर्थक हुआ ब्रह्म विद्या साक्षात वक्तुम अशक्यवात्म अब ब्रह्म विद्या साक्षात कि ब्रह्म विद्या उपदेश करने के लिए कहा ब्रह्म का ज्ञान साक्षात उसको स्पष्ट ब्रह्म को कहेंगे तो ब्रह्म विषय ज्ञान स्पष्ट होगा ब्रह्म तो अवांग मनुष्य गोचर साक्षात शब्द से नहीं कह सकते इसलिए तदर्थ से ब्राह्मणों वांग मनसाति तत्वाद ब्रह्म विद्या क्यों नहीं कह सकते ब्रह्म विद्या का जो अर्थ विषय है ब्रह्म है ब्रह्म की विद्या ब्रह्म है वांग मनसातीत घट ज्ञान को कहने के लिए घट वाणी मन का विषय तो घट ज्ञान को समझा देंगे और ब्रह्म विद्या को कहने के लिए ब्रह्म पहले कहा जा सके तो तद विषय का विद्या कहेंगे ब्रह्म तो वांग मन सा अतीत वाणी मन का अतीत है मन का विषय नहीं वाणी किसी इंद्र का विषय नहीं होने से उसको नहीं शब्द से कह सकते वाणी का विषय नहीं है अतः सोपायांतरमाह उपायांतरण सह सोपायांतरम उपायांतरण सह तेन सहेति तुल्य होगी सोपायांतरम अन्य उपाय के साथ कहा अन्य उपाय है ज्ञान का तो उपाय है श्रवणादि दूसरा उपाय ये ये भी चाहिए श्रद्धा भक्ति ध्यान एवं श्रद्धा आस्तिक बुद्धि श्रद्धा है कि बड़ा साधन है गुरु वेदांत वाक्य से विश्वास आस्तिक बुद्धि ये वास्तव है यथार्थ बुद्धि जिसमें पूज्य बुद्धि हो श्रेष्ठ है और उसको समझ करके आगे प्रवृत्ति होती है कहीं कहीं समझने के बाद पूरा थोड़ा निश्चय नहीं होता है श्रद्धा नहीं होती तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होती कोई कुछ कहा विश्वास नहीं होता है तो प्रवृत्ति नहीं होती है जब श्रद्धा है आस्तिक बुद्धि दृढ़ निश्चय हो तो अवश्य ही प्रवृत्ति होती है ये श्रद्धा एक साधन है और भक्ति है भजनम भज सेवाएं धातु है भक्ति भजनम स्त्रियांग तीन करें तो भक्ति लुट करें तो भजनम तो भजन भक्ति क्या है भक्ति भजन शब्द का अर्थ नहीं कि द्वैत बहुत लोग भक्ति सुनते ही द्वैत मत मान लेते भक्ति शब्द सुनता है तो हमारा द्वैत मत आ गया द्वैत हो जाएगा ऐसा नहीं है तदेक तात्पर्य बुद्धि एक ही तात्पर्य बुद्धि उसमें ही तद तात्पर्य तस्य बुद्धि इसमें पर ब्रह्म में सब शास्त्र का तात्पर्य ऐसे बुद्धि निश्चय हो जाए तत् एक उसमें तत्पर होकर उसका ही चिंता न करे यही भजन है भजन है उसके लगातार उसका सेवन तत्पर होकर तात्पर्य बुद्धि उसमें तत्परत्व की बुद्धि शास्त्रों का तात्पर्य उसमें है वही एक अद्वितीय तत्व है ऐसे तो उसको कोई द्वैत रूप से चिंतन करते कोई अद्वैत रूप से चिंतन करते वो अलग बात है कोई साकार रूप से चिंतन करते कोई विष्णु रूप से कोई शिव रूप से चिंतन करते हैं कोई शुद्ध ब्रह्म अद्वितीय श्रुति प्रमाण से एकमेव अद्वितीयम तत्व से आदि वाक्य से अहम सिंह परम ब्रह्म इसे चिंतन करते ये भी भक्ति है भक्ति में चार प्रकार भक्त भक्त कह गए आर्तो जिज्ञास अर्थात ज्ञानी च ज्ञानी को भी भक्त कहा ज्ञानी भी भक्ति करता है भजन करता है भक्ति शब्द का अर्थ बहुत है सामान्य आरंभ करके आगे पराभक्ति एक कही गई श्रेष्ठ भक्ति सम सर्वेशु भूतेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शौचते न कांक्षति गीता में कहा गया पहले सामान्य ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान सो को इच्छा नहीं करता है तो सम सर्वेशु भूतेषु भक्ति में लभते परा शास्त्र से वेदांत श्रवण करने से थोड़े विवेक होता है मोह नष्ट होता है परोक्ष ज्ञान से जितने होता है उसे पराभक्ति को प्राप्त करता है पराभक्ति श्रेष्ठ भक्ति द्वैतवादी लोग कहते हैं अब भगवान कहते हैं पराभक्ति उनसे क्या लाभ होगा आगे अष्टादश अध्याय में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम पराभक्ति प्राप्त करने पर भक्त्या माम अभिजानाति पराभक्ति है ज्ञान का साधन भक्त्या माम अभिजानाति भगवान स्वयं कहते गीता में कोई ये अद्वैतवादियों की व्याख्या नहीं भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते मदभक्ति लभते पराम और पराभक्ति प्राप्त होने से क्या होगा भक्तिया माम अभिजानाति भक्ति से मुझे जानता है यावान यश्चास्मि तत्वतः जो जिस परिमाण वाला हो जो मैं हो तत्व तो मेरा स्वरूप को जानता है और तत्व माम तत्व तो ज्ञातवा तत्व तो मुझे जान करके तत्व तो जानने का तो पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान होने से विषते तदनंतर मेरे स्वरूप हो जाता है तो भक्ति ज्ञान का साधन है पराभक्ति होने के बाद ज्ञान प्राप्त करता है जो पराभक्ति है वो निधिध्यासन रूप श्रवण मनने के बाद वो निधिध्यासन से ही साक्षात्कार होता है वह निधिध्यासन आत्मिका पराभक्ति है और कहीं कहीं ज्ञान के आगे भक्ति कही गई वो परोक्ष ज्ञान के आगे भक्ति है अजीत अपरोक्ष ज्ञान के आगे ऊपर भक्ति कहेंगे तो पंचमी भूमिका है अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद भक्ति कहेंगे तो स्थित प्रज्ञा अवस्था है नहीं तो भक्ति शब्द से पराभक्ति है निधिध्यासन निधिध्यासन से ज्ञान होता है भगवान कहते भक्तियाँ माम अभिजानाति तो ज्ञान का साधन जो भक्ति है वो निधिध्यासन वो परोक्ष ज्ञानी वो ज्ञानी शब्द से परोक्ष ज्ञानी कहते हैं वही ज्ञानी भक्ति करता है निधिध्यासन करता है तो ये भजन भक्ति तदेक तात्पर्य बुद्धि ध्यानम भक्ति आगे ध्यान ध्यान बीजात्य प्रत्यय शून्य सजात्य प्रत्यय प्रवाह सामान्य बुद्धि निश्चय हो गया उसके बाद लगातार उसको अभ्यास करना ऐसे निधिध्यासन करते समय श्रवण मनन से संशय दूर होता है तो अहम अस्में ब्रह्म से बुद्धि होती है किंतु वो लगातार बहुत समय नहीं रहती है बीज बीच में बीजाते प्रत्यय बीजाते ज्ञान हो जाता है विजातीय का तो उसी ज्ञान से भिन्न ज्ञान विषय रूप प्रसाद विषय ज्ञान शब्द प्रसाद विषय ज्ञान ये सब ज्ञान हो जाता है सजा विजातीय प्रत्यय उससे रहित तो, सजातीय प्रत्यय प्रवाह सजातीय प्रत्यय अहम अस्म ब्रह्म इसी प्रत्यय का प्रवाह सजातीय प्रत्यय अहम अस्म ब्रह्म इसे चिंतन करते करते कभी लक्ष्यार्थ चिंतन करता है तत्पदत्व पदार्थ इस करके प्रत्यय ज्ञान का प्रवाह चलता है ज्ञान का प्रवाह करने से प्रत्यय वृत्ति ज्ञान लगातार चले ये प्रवाह ये ध्यान ध्येय ध्येय चिंता एवं चिंतन है लगातार चिंतन करना ये ध्यान है तत्र प्रत्येकतनता ध्यान योग सूत्र में कहा गया प्रत्यय लगातार चलना ध्यान है तो तत्र का अर्थ देश विशेष जहाँ ध्यान करे बाहिर बाह्य भी ध्यान करते पहले हृदय कमल में ध्यान करते हैं और अहम ब्रह्म होने के बाद भजन भक्ति तदेक तात्पर्य बुद्धि और निरंतर चले प्रवाह ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह तो इसे एतेषाम योग भक्ति ध्यान योगात इनका योग का संबंध ये संबंध योग से ज्ञान इससे जानो ये सब कारण तत्कारणम यावत ये तत्कारण ब्रह्म ज्ञान का कारण ये सब है तस्मात ही ये ब्रह्म ज्ञान का कारण बता दिया इसी कारण से ब्रह्म को जानो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त जानना चाहते हो ब्रह्म ज्ञान के लिए कारण बता दिया अभी ही जानी कारण बता दिया जैसे तपो ब्रह्म वो आरुणी विद्या भार्गवी विद्या में आया अधि भगव ब्रह्म का तपो ब्रह्म तपसा ब्रह्म विजिज्ञा सत्सो तप ही ब्रह्म है तो तप करके धीरे धीरे तप से ही ज्ञान होता है इसी प्रकार ज्ञान का कारण बता दिया इधानी यथा श्रद्धा भक्ति ध्यान योगो ब्रह्म विद्याम कारण तद्वत संन्यास श्रद्धा भक्ति ध्यान योग श्रद्धा भक्ति ध्यान का योग संबंध ये कारण हुआ ब्रह्म विद्या में ब्रह्म विद्या का कारण जैसे हुआ इसी प्रकार संन्यास भी कारण है ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रद्धा भक्ति ध्यान योग के जिस प्रकार कारण इस प्रकार सन्यासी भी कारण सन्यास ऐसणात्र सन्यास सब ऐसा का त्याग करने पर ज्ञान होता है न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नीके अमृतत्व मानसु न कर्मणा अमृतत्व मानसो न प्रजया न न त्यागे त्यागेन एक अन्य अमृतत्व मानसो अमृतत्व को प्राप्त किया त्यागे न तो सर्व त्याग अमृतत्व है मोक्ष तो मोक्ष साधन ज्ञान होता है तो मोक्ष प्राप्ति होती है तो कर्म प्रजा धन आदि जितने हैं ये तो परंपरा से कर्म करने से अंतकोण शुद्धि प्रजापुत्र होने से कर्म करेगा धन से भी कर्म करेगा ये मोक्ष का साधन नहीं है सबका त्याग है न कर्मणा इति स्मारते न वाह कर्म श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म श्रुति में विहित कर्म है श्रौत अग्निहोत्रादि आदि स्मार्त कर्म है इष्टावृत दत्त आदि बापी को पतड़ाग आदि आदि स्मार्त कर्म है और नित्य नैमित्तिक कर्म है कुछ श्राद्धा आदि पितृ के लिए कर्म करते हैं जितने कर्म है वो कर्म तो करना चाहिए विहित कर्म अवश्य ही करना चाहिए किंतु कर्म से ही मुख्य हो जाएगा ऐसा नहीं है के लोग मानते हैं कर्म से मुख्य हो जाएगा जो स्वर्ग साधन कर्म उसी कर्म को मोक्ष साधन कह देते स्वर्ग ही मुख्य है अपाम सोमम भोम सोम पान क्या आ करके मुक्त हो गई तो इसलिए कहते कर्म से श्रुति कहती कर्म तो करना चाहिए किंतु कर्म से मोक्ष नहीं है सौत स्मार्थ कर्म न प्रजया प्रजा है पुत्र पुत्र पौत्र आदि इसे अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती पुत्र ने यह लोक जय कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इस लोक जय का साधन पुत्र पितृलोक प्राप्ति का साधन कर्म और देवलोक प्राप्ति का साधन उपासना है इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती धन न धन है वित्त दो प्रकार दैव वित्त और मानुष वित्त दैव वित्त मानुष वित्त मानुष वित्त तो पशु हिरण्य आदि गो आदि पशु सुवर्ण आदि ये सब धन है जितने लोग हैं प्रसिद्ध धन धन जितने होने पर भी वो अमृत तो मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है धन प्राप्त होने पर धन से धर्म करना चाहिए हाँ यज्ञ दान न तपस्या दान को कहा साधन ज्ञान का साधन धन को नहीं कहा दान को कहा धन अर्जन तो कष्ट है धन अर्जन जितने कष्ट है उसकी अपेक्षा दान और कष्ट है धन बहुत के पास आता है निकलना बड़ा कठिन है धन को कहते लक्ष्मी एक हाथ से लाया दूसरे को देने के लिए कोई पकड़ा दिया इनको दे दो एक हाथ से पकड़ा दूसरे को दे देना इधर दे देना इधर से लाया इधर देना बीच में हो जाता है मैं इसके पति हूँ लक्ष्मी जिसके पास आया वो मान लेता है मैं इसके पति हूँ और नहीं दूंगा तो क्या करेगा नहीं तो देंगे बाद में देंगे आ गया देंगे <laughs> उस समय इसे लग जाता है छोड़ने की इच्छा नहीं इससे से पकड़ा इसको दे देना चाहिए किंतु पकड़ने के बाद अपने को इतने मान लेता है मानने का समय हो जाए तो भी छाड़ता नहीं पकड़ रखा है देंगे देंगे देंगे देंगे देंगे कहते पहले भी <laughs> खत्म हो जाता है तो कहते काल देंगे काल देंगे काल देंगे काल काल कहते कहते उसे काला आ जाता है ये धन को साधन नहीं कहा धन दान को तो साधन धन नहीं धन से धर्म करना चाहिए ये मानुष वित्त एक होता है दैव वित्त दैव वित्त है जो उसको दैवी संपत्ति कहते हैं दैव वित्त है उपासना वो सत्कर्म है ये दैव वित्त श्रद्धा आस्तिक बुद्धि उपासना आदि किंतु उपासना से मोक्ष हो जाएगा ऐसी बात नहीं है दैवे न धने न मानुष्य न वित्ते न वा न अमृतत्व मानस नेति पूर्व अनुसज्यते न कर्मणा न प्रजया दो बार न कर दिया तो आगे उसके साथ भी जोड़ देना धने न न धने न किंतु एक अमृतत्व मानस त्यागे न त्याग से ही प्राप्त किया में वक्षमाण अनुसंग न धन न अमृततम आनसु धन से ही मोक्ष को प्राप्त नहीं किया कर्म प्रजा धन पदेशु अनुगंतव्य हो अमृतत्व आनसु इसका अन्वय किसके साथ करना न कर्म न अमृतत्व मानसु न प्रजा अमृतत्व मानसु न धन न कर्म प्रजा धन पदेशु अनुगंतव्य सबके साथ इसे जोड़ना न कर्मणा अमृतत्व मानस न प्रजया न धन सबके साथ अमृतत्व मानस तो मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी त्यागेन त्यागेन निखिल श्रौत स्मार्त कर्म परित्यागेन श्रौत स्मार्त कर्म का परित्याग बहुत लोग कहते तो हम तो करते ही नहीं इसलिए कर्म कौन करता है श्रौत स्मार्त कर्म परित्याग है कर्म नहीं करने से नहीं न कर्मणा मनारंभात निष्कर्म पुरुष हो सुनते कर्म नहीं करेंगे तो निष्कर्म हो जाएगा नहीं कर्म करे कर्म करे के परित्याग ये है कर्म का परित्याग क्यों करना कर्मजन्य फल की इच्छा नहीं होने से कर्म का परित्याग कर्मजन्य फल की इच्छा नहीं हो तो कर्म परित्याग कर्म से लोक प्राप्ति होती है पितृलोक देवलोक की प्राप्ति उसमें वैराग्य हो जाए तो फल की इच्छा नहीं तो उसके साधन का त्याग काम्य कर्म का त्याग फिर काम्य कर्म नहीं करे निष्काम कर्म करे अंतकोण शुद्ध होता है अंतकोण शुद्ध होने पर वैराग्य होता है तो सकाम कर्म जैसे त्याग कर देता है आगे देखता है निष्काम कर्म भी नहीं करता है अंतकोण शुद्ध होने पर तद विज्ञानार्थम स गुरु में परिचलोकान कर्म चितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्त्य अकृत कृतेन कर्म प्राप्त फल की परीक्षा करके कर्म से जो कुछ प्राप्त होता है वो अनित्य होता है इसलिए परीक्षा करके ब्राह्मण निर्वेद वैराग्य को प्राप्त करे वैराग्य होता है नास्ति अकृत कृतेन कृतेन का तो कर्मणा कृतेन कर्मणा अकृत नास्ति कर्म से नित्य फल की प्राप्ति नहीं होती है कर्म फल अनित्य है कर्म तो पहले सामान्य लोग तो कर्म यह लोक प्राप्ति इसी लोक में सुख के लिए कर्म करते हैं ज़्यादातर जब शास्त्री के बुद्धि शास्त्र में श्रद्धा है तो परलोकों के लिए कर्म करते हैं परलोक प्राप्त करते हैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है पुण्य कर्म करते हैं बहुत लोग धन दान करते हैं तीर्थ सेवन करते हैं गंगा स्नान आदि करते हैं सत्कर्म करते हैं यज्ञ आदि करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए किंतु स्वर्ग प्राप्ति में जो विचार करते हैं अंतकोण शुद्ध होता है तो दिखता है विचार करता है क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशांति फिर जन्म लेते हैं स्वर्ग में तो नित्य नहीं रह सकते हैं कर्म साध्य फल अनित्य ही होता है जिसका आरंभ होता है उसका नाश हो जाएगा तो कर्म से साध्य जो होगा प्राप्त होगा वो नष्ट हो जाएगा इसी प्रकार विचार करके फिर वैराग्य को प्राप्त करता है फिर ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है नित्य सुख प्राप्ति के लिए तो ये तब जब निश्चय करता है नित्य सुख प्राप्ति कर्म से नहीं होगी तब कर्म से जो प्राप्य लोक है ब्रह्मलोक तक उपासना कर्म से उसमें वैराग्य हो जाए तो उसका साधन कर्म का परित्याग करता है केवल एक ज्ञान प्राप्ति के लिए सब छोड़ करके सदगुरु को शरण में जाता है तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगछित ज्ञान प्राप्ति के तब कर्म संन्यास निखिल सौत स्मार्त कर्म उसका कारण है ऐसा संन्यास इच्छा का अभाव इच्छा है फल की प्राप्ति तो कर, साधन करना चाहिए और साधन नहीं करे खाली इच्छा करते तो दुखी होकर मरता है बहुत लोग फल नहीं फल चाहते हैं कर्म नहीं करते हैं पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम निच्छन्ति मानवा न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुरंती नित्य स पुण्य फल तो सब चाहते हैं पुण्य कोई नहीं करना चाहता है पाप फल पुण्य फल है स्व सुख सब चाहते हैं सुख मिल जाए हम सुख हम सुखी हो जाए किंतु पुण्य नहीं करते हैं और न पाप फल मिशन पाप का फल दुख है कोई नहीं चाहता है किंतु पाप करते रहते हैं पाप निरंतर करेंगे तो पाप फल भोगना पड़ेगा अब पुण्य फल की इच्छा तो पुण्य करें यदि फल की इच्छा नहीं है तो कर्म का त्याग करते हैं तो ऐसा पुत्रेशना वित्तेषणा लोकेशना तीनों का त्याग किया जाता है संन्यास में संकल्प करके प्रतिज्ञा करते हैं पूरा ऐसा तरह संन्यास करे तभी आगे संन्यास मंत्र देते हैं जो संन्यास दीक्षा लेते हैं सब छोड़ करके पूरा गंगा जी में खड़े होकर के शपथ करते हैं पूरा ये इस लोक परलोक सबको त्याग कर दिया पूरा त्याग कर दिया जोर से जोर से प्रतिज्ञा करके बोल करके वस्त्र फेंक करके चोटी सिक्खा सिक्खा आदि फेंक करते दंड आदि फेंक दे सब फेंक करके जोर जोर कर कहते सब त्याग कर दिया संकल्प कर दिया तभी आगे सन्यासी बनते हैं तो यही सन्यास त्याग शब्द का थे है सन्यास सर्वत्याग निखिल सौत स्मार्त कर्म परित्याग है ना परमहंस आश्रम रूपेण परमहंस आश्रम वो कुटीचक बहुत हंस परमहंस आगे आएगा बताएंगे परमहंस संन्या आश्रम हंस आश्रम रूपेण एक एक है अन्य महात्मान महान आत्मा ये शांत महात्मान आत्मा का अर्थ अंतकर्ण अंतकर्ण महान तभी कहा जाएगा वैराग्य होने पर वैराग्य समदमादि संपन्न हो तो महात्मा है और महान चो आत्मा जैसे विग्रह नहीं है आत्मा तो महान है ही तो कहीं आत्मा महान कहेंगे तो शुद्ध ब्रह्म लेना महान आत्मा ये ते महात्मा नाम ऐसे आनंद की टीका में व्याख्या कितने स्थान में की गई अमृतत्व अविद्यादि मरण भाव राहित्यम तो अमृतत्व मुख्य है मुख्य क्या थे अविद्या आदि अविद्या काम कर्म मरण भाव राहितम ये सब मरण कोई नहीं है यही नित्य मुक्ति स्वरूप है उसको आनसु आन सिरे असुंग धातु है आत्मनिपद है तो लीट लकार में आनसे आनसी आनसाते आनसिरे बनेगा तो आनसु परस में पद प्रयोग दिया है आत्मनिपद आनसिरे का अर्थ प्राप्त मोक्ष को प्राप्त किया एवं कृते सन्यासी इस प्रकार जैसे श्रद्धा भक्ति ध्यान योग ब्रह्म विद्या का कारण ऐसे संन्यास संन्यास का अर्थ नहीं केवल संन्यास दीक्षा संन्यास का अर्थ कर्म त्याग कर्म त्याग का कारण है ऐसा संन्यास तीनों ऐसा का त्याग पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा और स्वर्ग आदि सुखों की इच्छा नहीं हो सब कर्म त्याग कर देता है सब त्याग करने का अभिप्राय क्या है कोई मानते संन्यास हो गया सब छोड़ दिया हमारा मोक्ष हो जाएगा और क्या श्रवण करना कहते सन्यास ले लिया और क्या श्रवण करना है और क्या पढ़ना है सन्यास किस लिए संन्यास श्रवण कुरियात संन्यास लेते हैं सब आश्रम धर्म से बंधन से मुक्त होकर के निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन करने के लिए सन्यास यानी कि संन्यास ले लिया उतने मात्र से मुख्य संन्यास से दीक्षा वेश मात्र से मुख्य नहीं होता है वास्तव संन्यास ऐसा संन्यास हो उसके बाद ज्ञान प्राप्ति का साधन श्रद्धा श्रद्धावती ध्यान योग आगे श्रवण मन निधिध्यासन कृत्य संन्यास आगे संन्यास के बाद कहते हैं परेण नाकम निहित गुहायाम विभ्राजते यद यतो विशंति परेण नाकम नाकम परेण नाक है स्वर्ग अभी व्याख्या में बताएंगे गुहायाम निहितम तो स्वर्ग से पर है सुख से पर है सुख स्वर्ग सुख उसके ऊपर है गुहायाम बुद्धि रूप गुहा में स्थित विशेषण भ्राजते दीप्त प्रकाशमान है स्वयं प्रकाशमान यद यतो विसंति जिसमें यति यत्न करने वाले संन्यास के बाद फिर साधन करके साक्षात्कार करके जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं तद्रूप हो जाते हैं वो ब्रह्मस्वरूप कहाँ है गुहायाम निहितम सर्वव्यापकते है बुद्धि रूपे में विभ्राजते बुद्धि गुहा में विशेषण भ्राजते विशेष रूप से प्रकाशमान है परेण का तो परस्मात नाकम परेण नाकम नाकम परस्मात ना, स्वर्ग के ऊपर नाकम शब्द का तो स्वर्ग क्यों होता है कम सुखम सुख हो गया कम तद विरोधी दुखम तद न कम अकम बन जाएगा न कम इति अकम जो क न कम नहीं है क का अर्थ सुख न का अर्थ विरोध में सुख विरोधी सुख का अभाव मात्र को दुख नहीं कहते हैं सुख विरोधी है दुख सुख का अभाव और दुख एक है नहीं जिस समय सुख अभाव है उस समय दुख है हो सकता है नहीं भी हो सकता है सुख का अभाव होने मात्र से दुख नहीं है दुख के अभाव मात्र सुख है नहीं तो इसलिए सुख विरुद्ध है दुख न कम अकम न समास न क्या तो विरुद्ध अर्थ में तद विरोधी दुखम दुखम हो गया क्या किस शब्द का अर्थ अकम फिर न अकम विद्यते यस्मिन अविद्यमान अकम यस्मिन जिसमें अक नहीं है अक का तो दुख जिसमें नहीं है स नाक नाक है न अगर अकह न का लोप नहीं हुआ कोई सूत्र है ना नाका है नाका है ना ये न का ना का सूत्र है पहले सूत्र क्या क्या है न भ्रा न पा न वेदा ये सूत्र में नाक में न के न का लोप नहीं हुआ सब नाक बन गया जिसमें दुख है ही नहीं स्वर्ग में दुख नहीं है स्वर्ग का क्या किसको कहते स्वर्ग यन्न दुखे न संभिन्नम तस यन्न दुखे न संभिन्नम दुख से संभिन्न का थे मिश्रित दुख मिश्रित नहीं है स्वर्ग है सुख विशेष सुख विशेष को स्वर्ग कहते यन्न दुखे न संभिन्नम दुख मिश्रित नहीं हो जिसमें दुख है ही नहीं वो स्वर्ग सुख है यह न दुख न संविनम न च ग्रस्तम अनंतरम लोक में भी सुख मिलता है किंतु थोड़ी देर नष्ट हो जाता है किंतु स्वर्ग सुख ऐसा है अनंतरम न ग्रस्तम नष्ट नहीं होता है न च ग्रस्तम अनंतरम और अभिलाष उपनीतम च स्वर्ग में जो इच्छा है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगी इच्छा करने मात्र से जो इच्छा वो प्राप्त हो जाएगी इच्छा करने से ही प्राप्त हो गया कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा अभिलाष उपनीतम च सुखम स्वपदास्पदम स्वपद से कहा गया वही सुख है तो स्वर्ग में दुख है ही नहीं वो स्वर्ग सुख यस्मिन नाक तम स्वर्ग नाकस्य ऊपरी स्वर्ग के ऊपर ही स्वर्ग सुख से भी पढ़ करके स्वर्ग सुख कहा नचग्रस्तम अनंतरम जैसे शीघ्र नष्ट होता है वहाँ स्वर्ग में ऐसे सुख शीघ्र नष्ट नहीं होता है किंतु नित्य नहीं है स्वर्ग सुख भी अनित्य है पुण्य जब तक है तब तक पुण्य समाप्त होने से स्वर्ग से वापस आ जाते हैं स्वर्ग में जरा मरण भय नहीं रहता है तीस साल उम्र में जितनी युवा अवस्था हमेशा ही इसी अवस्था में रहते हैं प्रारंभ से लेकर अंतिम तक समाप्त हो जाएगा तो शरीर बर्फ जैसे पिघल गया पिघल जाएगा वो, वो कभी कभी समाप्त होने के समय में उनको मालूम होता है अभी जाने वाले हैं तो वहाँ से आ जाते हैं तो वो स्वर्ग है आपेक्षिक अजर अमर देवता को कहा गया आपेक्षिक है वस्तु तो अमर नहीं है हम मृत्यु जैसे यहाँ ऐसे नहीं है शीघ्र भी वापस नहीं आते हैं किंतु नित्य नहीं है इसलिए उससे पर है अथ परेण परम नाकम आनंद आत्मान परेण का अर्थ कहते पर शब्द का अर्थ नाकम पर नाक का तो सुख सुख मत आनंद आत्मा आनंद रूप ब्रह्म ही मुख्य सुख है जो लोक में विशेष सुख प्राप्त होता है वो सुख नहीं है वो सुख का प्रतिबिंब मात्र सुख तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म ही आनंद सुख रूप है वही मुख्य सुख है बाकी जो सुख है गौण है उनको सुख शब्द से कह देते हैं जैसे ज्ञान एक नित्य ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म ही ज्ञान है और ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान में भी ज्ञान शब्द प्रयोग करते हैं अंतकरण का परिणाम घटाकार वृत्ति होती है अंतकरण का परिणाम इंद्रिय रूप छिद्र के द्वारा अंतकरण बाहर जा करके घट देश में व्याप्त हो जाता है जैसे जल पात्र में जल रखेंगे छेद कर देंगे तो छेद से जल निकलता है वो जल जहाँ गिरता है वहाँ गिलास रखे कटोरी रखे लोटा रखे तो भर जाता है तदाकार हो जाता है इस प्रकार इंद्रिय छिद्र के द्वारा अंतकरण बाहर जाता है इस शरीर घड़ा के जैसे है बाहर जाकर के विषय देश में व्याप्त हो जाता है बाहर जो गया अंतकरण जल के अंश अंतर बाहर जाता है अंतकरण का अंश बाहर गया उसको कहते परिणाम वृत्ति अंतकरण का परिणाम वृत्ति वृत्ति जाकर व्याप्त हो जाती घट के साथ तो घटाकार वृत्ति जाती है अंतकरण स्वच्छ होने से जैसे जीव जड़ का भेद करते किसको लेकर के चिदाभास को लेकर के पत्थर में चेतना शुद्ध चेतन है क्या शुद्ध चेतन है उसको जड़ कहते हैं चेतन कहते पत्थर को पत्थर को जड़ कहते हैं और आप सब सब जब बैठे सब चेतन है आपके शरीर में शुद्ध चेतन है दिवाली में है शुद्ध चेतना हाँ दोनों में बराबर शुद्ध चेतन है और आपके शरीर में विशेष है चिदाभास इस शरीर के अंदर अंतकर्ण है अंतकर्ण स्वच्छ होने से चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करता है जिसको प्रतिबिंब को क्या कहते हैं चिदाभास चिदाभास अधिक ही दिखता है वस्तु तो चिदाभास चेतन नहीं है चित्तवत आभासत है चेतन जैसे दिखता है लगता है चेतन नहीं है तो चेतन चिदाभास अधिक दिखता है जीव में जड़ में भी शुद्ध चेतन है सर्वत्र चेतन बराबर है तो चेतन ही वस्तुतः ज्ञान है अंतकर्ण में जिस प्रकार चिदाभास उदय होता है इसी प्रकार अंतकर्ण वृत्ति में भी चिदाभास उत्पन्न होता है वो चिदाभास चेतन जैसे लगता है तो चेतन है ज्ञान ज्ञान चिदाभास के संबंध से वृत्ति को भी ज्ञान कह देते हैं दर्पण में जैसे दस सूर्य का प्रतिम्ब दिखता है प्रकाश बहुत दिखेगा दर्पण में जो भी सूर्य प्रतिम्ब भी देखेंगे तो देख नहीं सकते जैसे जल में कोई सूर्य का प्रतिम्ब होता है तो जल भी दिखता है प्रकाश बहुत इसी प्रकार वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब होने से वो ज्ञान रूप दिखता है वृत्ति में ज्ञानत्व शब्द प्रयोग करते गौण प्रयोग वृत्तो वृत्त ज्ञानत्व उपचार ज्ञानत्व उपचारा उपचार गौण प्रयोग ऐसे कहा गया मुख्य ज्ञान है ब्रह्म और वृत्ति को भी ज्ञान शब्द से कहते हैं और ज्ञान तो नित्य है किंतु वृत्ति की उत्पत्ति नाश होने से घट ज्ञान की उत्पत्ति नाश कर देते हैं जिस प्रकार आकाश को तार्किक लोग नित्य मानते हैं किंतु घट की उत्पत्ति घटाकाश घट नष्ट हो गया तो घटाकाश नष्ट हो गया ऐसे कहते हैं इसी प्रकार वृत्ति की उत्पत्ति नाश से घट ज्ञान उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया ऐसे कहते हैं तो दो ज्ञान है कि मुख्य ज्ञान है ब्रह्म और अनित्य ज्ञान हो गया घट ज्ञान पट ज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति वो भी अनित्य है और मुख्य ज्ञान हो गया शुद्ध ब्रह्म इसी प्रकार सुख भी मुख्य सुख है ब्रह्म विज्ञान आनंद ब्रह्म और गौण सुख होता है ये इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर अंतकर्ण में वृत्ति होती है अंतकर्ण वासना नहीं होने पर स्वच्छ हो जाने से थोड़े चांचल्य नहीं रहे सुख का प्रतिबिंब होता है सुख आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब को भी सुख शब्द से कह देते हैं जिस प्रकार ज्ञान रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब होने से वृत्ति में ज्ञान शब्द प्रयोग कर देते हैं इसी प्रकार अंतकरण परिणाम है उसमें सुख रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब होने से उसको सुख शब्द से कह देते हैं और गौण सुख है वो वास्तव सुख नहीं है इसलिए स्वर्ग सुख जो सुख है उससे पर है शुद्ध ब्रह्म तो यहाँ जो कहते हैं परेण का तो परम पर है प्रकृष्ट नाकम आनंदात्मा यहाँ सुख शब्द से मुख्य सुख लिया पहले तो सुख शब्द ले लिया विषय सुख लेकर जहाँ सुख विरोधी दुख नहीं है किन्तु यहाँ अथवा कह करके दूसरी व्याख्या करते हैं नाकम सुखम आनंदात्मान परेण नाकम मंत्र में परेण नाकम परेण का तो परम नाकम का तो सुखम आनंदात्मान निहितम प्रक्षिप्तम गुहायाम आनंद रूप जो नाक सुख है ब्रह्म निहितम गुहायाम निहितम का अर्थ रखा गया है प्रक्षिप्तम किसने रखा धात्रा परमात्मा ने गुहायाम का अर्थ गुहा रूप बुद्धि में बुद्धि में स्थित है जो आनंद आत्मा ब्रह्म सर्वत्र तो है सर्वत्र होने पर भी वहाँ अभिव्यक्त तो होता है दिखने से वहाँ है ऐसे कहा जाता है तो ब्रह्म सर्वत्र होने पर हृदय से अर्जुन तिष्ठति जो कहा गया हृदय से में बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है इसलिए गुहायाम बुद्धो विभ्राजते विभ्राजते विशेषण भ्राजते विशेष रूप से भ्राज है तो अर्थात स्वयं प्रकाशत्व न प्रदीप्यते बुद्धि रूप बुद्धि में शुद्ध चेतन बुद्धि का प्रकाशक है बुद्धि का विषय नहीं है तो स्वयं प्रकाशत्व न प्रदीप्यते बुद्धि का प्रकाशक है चे, चेतन ब्रह्म तो चेतन ब्रह्म का प्रकाश किससे होगा और विज्ञान तारा माने के नीजा स्वयं प्रकाश उसका प्रकाश को कोई नहीं स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश रूप से प्रदीप्यते प्रकाशमान है यद प्रसिद्धम विश्वव्यापी स्वरूपम यद यथो विशंति का अर्थ प्रसिद्ध है ब्रह्म है विश्वव्यापी स्वरूपम विश्वव्यापी स्वरूपम यश ब्रह्म सर्वव्यापक स्वरूप है यत विशंति यत कहते यति का बहुजन यत कृत संन्यास कृत संन्यास यही ते कृत संन्यास सन्यासी जिन्हें कर लिया स्नात्र संन्यास ज्ञान प्राप्त करने पर उसमें प्रविष्ट करते हैं न कि संन्यास संस्कार दीक्षा मात्र से कृत संन्यास प्रयत्नवंत हो यत यति प्रयत्न करने वाले प्रयत्नवंत प्रयत्न करते हैं ब्रह्म साक्षात्कार संपन्न प्रयत्न है श्रवण मन निधिध्यासन कर्ण से ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त करके विशंति क्या था प्रविशंति प्रवेश करते तो तद्रूप हो जाते हैं तद्रूप होने का क्या है ज्ञान हो जाता है अतद्रूप ब्रह्म की निवृत्ति होती है ना हम ब्रह्म ऐसे ज्ञान अज्ञान अवस्था में रहता है वो तो ब्रह्म की निवृत्ति होती है वो तो भेद ब्रह्म से मैं ब्रह्म नहीं हूँ परमात्मा नहीं हूँ ये जो अज्ञान अवस्था में भेद ब्रह्म उसकी निवृत्ति होती महावाक्य है भेद ब्रह्म निवर्तक वाक्य उसे ज्ञान होने से भेद ब्रह्म की निवृत्ति होती है तो ज्ञान हो जाता है इदम वयन स्म स्म इति साक्षात्कार तदेव भवंती अहम अस्मि ब्रह्म इस साक्षात्कार यहाँ यतः बहुवचन देने से वह वयम स्म एक वचन करे तो अहम अस्मि अहम अस्मि आवाम स्व वयम स्म स्म के आगे विसर्ग करना बनना नहीं लोप हुआ साक्षात्कार साक्षात्कार जो हो जाता है अहम अस्मि ब्रह्म तो तदेव भवंती ऐसे साक्षात्कार होने से अज्ञान की निवृत्ति होगी अज्ञान की निवृत्ति होने से तद्रुप हो जाता है इसे कहते ये भी गौण प्रयोग वो तो पहले से ही तद्रुप था तद्रुप होने पर भी वो आवृत अज्ञात है अज्ञान नष्ट हो गया तो तद्रुप हो गया कहते हैं गले में माला खो गई कर भ्रम हो गया अब भ्रम नष्ट हो गया तो कहते माला मिल गई माला तो गले में थी तो भी ऐसे प्रयोग किया जाता है गौण प्रयोग ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती ज्ञान होने पर ब्रह्म होगा ज्ञान होने के पहले ब्रह्म से भिन्न नहीं जैसे पहले से ब्रह्म था इसलिए तदेव भवंती जो कहते केवल ज्ञान से फिर क्या लाभ हुआ यदि पहले ब्रह्म था अभी ज्ञान हो गया तो क्या लाभ हो गया पहले ब्रह्म था अभी ब्रह्म हो गया तो क्या हो गया अज्ञान व्यवधान था वो व्यवधान हट गया अज्ञान व्यवधान हट जाना ही तद्रूप हो जाना ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै